अरे वहाँ पे जो आप लोग कुछ आपके साथ भी आए हैं वहाँ से हाँ जी जी जी वहाँ से सर मैं अपने हाँ, मैं अपने साथ कम से कम पच्चीस आदमी को तीस आदमी को लेके आ रखो लेके आया सर वहाँ स्पॉट पे जिसमें से पांच आदमी तो बिल्कुल बेहताशा हो गए कि वो चल नहीं पाए तो पच्चीस